अभी आपके सामने बहुत ही दो प्यारी आइटम्स आपके सामने उस्ताद हरभजन सिंह जी ने पेश की ध्रुपद दमार के रूप में गुरबाणी की दो पावन ओरिजिनल बंदिशें जो ध्रुपद के रंग में पिंकी ने संगत की उसका इजहार आप साथ साथ करते रहे हैं मेरी ओर से एक बार फिर उनके लिए आशीर्वाद के रूप में इतनी ज़ोरदार तालियां कि पिंकी फिर से स्टेज पर आ जाए लेकिन अब हम अनुरोध करेंगे पिंकी के शागिर्द से नविंदर सिंह से जो अगली आइटम में संगत करेंगे तबले पर लवली से निवेदन है कि वो आ जाएं। तो दोस्तों अगली आइटम जो है रूपा की है रूपा को मेरा ख्याल कम से कम छः सात आठ बरस पहले इनके गुरु ने कार्यक्रम रखा था धर्मवीर सिंह जी ने तो उनको मैंने सुना था वहाँ वो जैसा नाम है उतना ही रूप भरा इनका वादन है बहुत अच्छा सितार बजाती हैं तो जितने गुण हैं धर्मवीर सिंह के इन्होंने ग्रहण कर लिए हैं अगर मेरा यकीन ना आए तो आप सुनकर देख लीजिए इनके साथ तार शहनाई पे गुरबख्श सिंह जी करेंगे संगत तो नहीं कहूँगा ये जुगलबंदी है ये उस्ताद गुरुदेव सिंह के शागिर्द हैं उनसे सीख रहे हैं तो चलिए रूपा और गुरबख्श सिंह से सितार और तार शहनाई सुने दोस्तों इनका स्वागत कीजिए